ककलसभरि आनहि पानि अचनाथ कहं सुनि प्रिय वचन प्रीतयति देखे राम कृपाल सुशील विसेखि जानी श्रमित सिय मन माहे घर कबिलम्ब कि बट छाहे मुदित नारि नर देख शोभा रूप नयन मनु कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं नाथ आचमन तो कर लीजिए उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा दिया है एकटक सब सो हि च रामचन्द्र रामचन्द्रमुख चन्द चकोरा न तरुतमान तरुणतमान वरन तनु सोहा देखत कोटि मदन मनमो दामिनी भरल लखन के नख सिख भगन् भावते जी के मुनि कसे पट तू नीरा सोहनि कर धन तीरा सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं बिजली के समान बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं वे नख से सिख तक सुंदर हैं मानो मन को बहुत भाते हैं दोनों मुनियों के बलकल आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं जटा मुकुट शेषण सुभग उर्भुज नयन विशाल तरद परम निजु बदन बरम लसत स्वेद जाल उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं वक्षस्थल भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है न जाए मनोहर जोरी शोभा शोभूत थोरीमति मोरि रामलखन सुन्दरतायि सब चित मन चित् थके नारि नर प्रेम पियासे मनहोरि जग देख दिया सिय समीप ग्राम तीय जा पूछतयती स्नेह सकुचाहे उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं प्रेम के प्यासे वे गांवों के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरणी और हिरण निस्तब्ध हो रह जाते हैं गाँव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते जाती हैं बार बार सब लाग पाए कहीं बचन मृदु सरल सुभाए राजकुमार रे विनय हम कर तिय सुभाय कछु पूछत डरही स्वामिनिय विनय क्षम बे हमारे बिलगन मानब जान गवारी राजकुंवर दो सहज सलोले इनते लही दुते मरकत सोने बार बार सब उनके पांव लगती और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं हे राजकुमारी हम विनती करती कुछ निवेदन करना चाहती हैं परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं हे स्वामिनी हमारी जिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी जानकर बुरा न मानिएगा ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्यमय परम सुंदर हैं मरकतमणि पन्ने और स्वर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है अर्थात मरकतमणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है वह इनकी हरिताभना और हरिताभ नील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है श्यामल गौर किशोर बर सुंदर सुषमायन सरद नाथ मुख शरद सरोहनय श्याम और गौरवर्ण वर्ण के हैं सुंदर किशोर अवस्था है दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं